यजुर्वेदश्चाद्य द्वात्रिंश समाध्यायस्य उत्तरेषाम् अष्टमन्त्राणाम् पाठ भविष्यति प्रारम्भमानन्त्रस्य प्रतद्भूषितम् अमृतम् विद्वान् इत्येतानि सर्वाणि पदानि सन्ति आज यजुर्वेद के बत्तीसवें अध्याय के छह आठ मंत्रों का पाठ होगा प्रतद्भूषि विद्वान इस मंत्र से प्रारंभ होगा ओ America प्रथम प्रकाशस्य उनत्रिंशत्तममन्त्रः पठिष्यते व्याख्यासते च महर्षिरानन्दप्रणीत आर्याविनय ग्रंथ के प्रथम प्रकाश का उन्तीसवा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या लिखी जाएगी ओम रक्षस्विनो हमको प्रेरणा लेनी है वेद मंत्रों के भाव को लेकर के जब व्यक्ति विचार करता है तो वह सूक्ष्मता में जाता है अर्जन करेंगे कि अधर्म करने वालों को कभी सुख नहीं है इस व्यक्ति का ध्यान जाना चाहिए ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के अधर्मियों को प्राणियों को दुख सुख दुख न देना तो प्रार्थना करने वाले की ओर ही ये विचार उत्पत्ति हो जाएगी प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मैं प्रार्थना करने वाला क्या मैं अधर्मी नहीं हूं ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा आप निरीक्षण कर लो तो व्यक्ति मन से पाप करता है वाणी से करता है शरीर से भी करता है प्रार्थना करने से पहले उस व्यक्ति के ही सामने प्रसन्न आ जाएगा कि मैं दूसरे पापी को सुख न देना ये प्रार्थना करूं उससे पहले मैं अपने पाप से दूर हो जाऊं का संविधान क्या है कि व्यक्ति पहले पुरुषार्थ करता है खूब परिश्रम करता है उसके पश्चात वह ईश्वर से सहायता मांगता है तो प्रथम व्यक्ति को ध्यान देना है प्रार्थना करने से पहले वह अपने पाप को समाप्त करे ये व्यक्ति का पाप या अधर्म एकदम समाप्त नहीं हो जाता इसका मोटा रूप जब हट जाता है तो सूक्ष्म रूप सामने आता है से व्यक्ति बुरे काम करना छोड़ देता है पर मन से नहीं छोड़ता बार बार प्रयास करता है लेकिन फिर भी मन में बुराई दिखाई देती आप क्या अनुभव करते हैं एडी से चोटी तक का जोर लगाइए और चालीस पचास वर्ष लगाइए फिर भी आप अपने मन में पापों को देखेंगे संदेह उत्पन्न होता है क्या फिर ये पाप नितान्त नहीं उखड़ सकते उखड़ सकते उखाड़े जा सकते पर मानसिक पापों को बिना ईश्वर की उपासना समाधि के अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता केवल भौतिक विज्ञान की बातों को लेकर भौतिक साधनों को लेकर कोई ये चाहे कि मैं मानसिक पापों को हटा दूंगा ये कभी संभव नहीं जिस समय व्यक्ति योगाभ्यास करते करते उसी स्थिति में चला जाता है उस समय व्यक्ति अपनी हानि उठा करके भी दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहता है ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है ईश्वर की उपासना योगाभ्यास से उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं होती व्यक्ति ईश्वर की उपासना करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचता है जिसमें कि उसको लौकिक सुख की आवश्यकता नहीं रहती जब लौकिक सुख की आवश्यकता नहीं रहती तो तब वो स्वयं सुख उठा करके भी दूसरे को सुख देना चाहता है और जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता ईश्वर को नहीं जानता ईश्वर का आनंद नहीं मिलता वो स्वयं सुख के लिए लाला ईश्वर रहता है और दूसरे को सुख को छीनना चाहता है वो दूसरे को क्या सुख देगा और देगा तो बदले में देगा कि ये मुझे ये दे देगा तो मैं इसको ये दे देता हूं आप घरों में अपने मित्रों को कुछ खिलाते खिलाते हैं या नहीं खूब खिलाती और अच्छा जोर लगा के खिलाती क्यों कि मैं इनके घर पर जाऊंगा तो ये भी मुझे खूब खिला देगा ऐसी ऐसी दृष्टि है या नहीं आप ये देखेंगे धनी लोग क्या क्या खिलाते हैं कैसे वहां ऊपर नीचे खाने की चीज जहां देखे वहीं खाने की चीज हो क्या सिखा चौन ऐसा होता है अब वो ये भी देखता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा नहीं तो ये करने वाला है लौकिक व्यक्ति तो प्राय बदले की भावना से प्रेरित होता है और ईश्वर का आनंद मिले बिना सबकी लौकिक सुख के लिए लालायित तो रहता है उसकी तृप्ति होती नहीं है इतना ज्ञान विज्ञान बढ़ा इतनी धन संपत्ति बढ़ गई आज तक ही में भोगवादियों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखने को मिला जो कहे कि मेरी कामनाएं पूरी हो गई है मेरा जीवन दूसरे को एक भी नहीं है न अमेरिका के न रूस न चीन न भारत के पास किसी के पास भौतिक विज्ञान भोगवादी कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कारण मूल में है कि सांसारिक भोगों को भोगते भोगते भोगते लाख जन्म लेने पर भी करोड़ जन्म लेने पर भी कोई व्यक्ति उनसे तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाता कारण यही है उसके मूल में कारण क्या है कि लौकिक सुख क्षणी है क्षणिक है एक और लौकिक सुख में दुख मिले हुए रहते चार प्रकार के योग दृष्टि की भाषा जहां क्षणिकता हो और चार प्रकार का दुख मिश्रित रहता हो उस व्यक्ति को चैन शांति का जो उस सुख को पकड़ता है वो दुख को भी पकड़ता है दोहरा लीजिए जो लौकिक सुख को ग्रहण करता है उस सुख के साथ दुख का भी ग्रहण होता है और उस दुख से ये छूटना चाहता है और सुख को लेते हुए से छूट नहीं सकता तो दुखी रहेगा बताओ क्या उपाय है संसार वो जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को क्या सुख देगा वो अपने दुख को हटाने के लिए ही दूसरे का सुख छीनेगा तो ये हमारी जो स्थिति है कि हम ये प्रार्थना करें हे ईश्वर अधर्मियों को सुख न देना इसके मूल में हमको यहां जाना पड़ेगा कि हम स्वयं अपने आप को धर्म से दूर करें पहली क्रिया ये हो पूरा जोर लगाए और पूरा जोर लगाते लगाते हम ऐसी स्थिति में चले जाएंगे मानसिक जो है पाप है वो छुटकारा नहीं देगा हमको वहां पर फिर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और ईश्वर हमको ज्ञान सुख उत्साह देगा और हम आदि पर अधिकार कर लेंगे अधिकार करने के पश्चात जो संस्कार रूप से जन्म जन्मांतर की वासना है उनको दग्ध बीज भाव बना देंगे मक्खी देखी आपने जानते हो मक्खी के दाने कैसे होते कहां लगते हैं पेड़ पर लगते हैं या पौधे पर एक बालक गुरुकुल में आ गया दिल्ली का वाला मैंने पूछा भाई ये बताओ ये ये वो कांगड़ के अरे इसके पेड़ का मुझे पता नहीं कांगड़ के <laughs> ये हम कांगड़ लगते हैं उस पेड़ का मुझे पता नहीं तो मक्की कांगड़ लगती है पौधे में या पेड़ और कितने दाने होते हैं एक उसमें उस मक्की के दाने को अग्नि में भून दो आप अच्छी तरह भूनो और फिर खाद मिट्टी डालो और भूमि में उसको कहते हैं दर्द बीज भाव जला के रख दिया उसको पूरा बीज अंकुर उगने की शक्ति ही नहीं छोड़ी फिर जितना ही खाद मिट्टी डालो वो उगने वाला है नहीं और ईश्वर की उपासना करने के पश्चात करते करते करते करते जन्मदिन जन्मांतर के जो बुरे संस्कार पाप को पैदा करते हैं अविद्या को उन संस्कारों को जला दिया जाता और जलाने के पश्चात वो संस्कार अज्ञान को और व्यक्ति को अधर्म की ओर नहीं ले जा पाते फिर वो कहता है परमात्मा आपकी सहायता से मैं छूट गया हूं और ये अधर्मी भी ऐसे ही छूट जाए है नहीं? उसका वो अधिकारी बन गया है कि इनको सुख मत देना पर याद रखना इसमें एक भावना दूसरी तो याद रखती है उनके प्रति द्वेश का होना इसका अभिप्राय यह है जब तक ये पाप को नहीं छोड़ते तब तक इनको सुख और फिर फिर क्यों देना क्योंकि आप सदा इसके ऊपर मार ही मार मारते चले जाओ वो धार्मिक हो जाए जब यही कहोगे कि भाई ये पापी था इसको तो पाप परमात्मा आपकी इसका सुख छीन लो ऐसा है ये कितने लोग हैं आपस में झगड़ते रहते हैं और कहते देखो भाई बात ये है मैं तो हूं आर्मी उत्तम गणतंत्र और ये बुरा है वो उसको कहता है मैं तो आर्य हूं ये बुरा अब बताओ कौन आर्य है कौन बुरा है ये जो बीमारी है रोग है व्यक्ति ये सोचने का ढंग बिल्कुल उल्टा है ये व्यक्ति स्वयं पापी रहना चाहता है और दूसरे के ऊपर पाप दिखा दिखा के आक्रमण करता है इतने की स्वाय नहीं हेतु ये देता है कि मैं आर्य हूं या अनार्य हेतु ये हेतु दोनों के हेतु बेकार है मैं तो वो व्यक्ति पाप से बचना चाहता और मैं ये व्यक्ति पाप से बचना चाहता दोनों पापी बना रहना चाहते हैं और फिर कहते हैं वो बुरा है मैं अच्छा हूं ये बुरा है मैं अच्छा हूं सबसे पहले व्यक्ति को अपने दोषों को दूर करने में जोर देना ये प्रक्रिया पद्धति है इसलिए ऋषि ने बात कही है पहले अपने दोषों को दूर कर और फिर दूसरे के दोषों को बताओ अधिकारी बन तो थोड़ा सा ही बताया जा सकता है एक बात इस मोहर के लिए उसकी संकेत करना इसमें कहा कि ऊत है हमारी सांप आ गया बाढ़ आ गई बाढ़ से ये हुआ इससे भगवान रक्षा कभी नहीं करता लोग जानते तो है नहीं एक कथा सुनाते हैं हमको लोग एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था यात्रा जंगल में एक जोर से उसको घेर लिया और एक सांप निकल के आया उसका पैर काट लिया जोर का वो बेहोश हुआ जो भी और यात्री निकल गया उनका एक सांप कहा से भगवान ने भेजा था ये है इनकी बुद्धिमत्ता अब भगवान इतना बलवान है इतनी देर में कचूंबर तो निकाल देता सारे संसार का सांप को भेजेगा सांप की बात समझेगा या नहीं समझेगा और कहते बहुत भगवान जब किसी की रक्षा करता है किसी को भेज देता है अजा अच्छा, भगवान तो पूरा ज्ञानी है वो हमको भेज दिया करेगा दूसरे जो आक्रमण करते पाकिस्तान अपने भगवान भेज देगा फौज को सेना को हटा दो भगवान भेज देगा करके देखो दिल्ली के सारे टुकड़े टुकड़े उड़ा के रख देगा पाकिस्तान ये बिना कृपया की बात भगवान के साथ जोड़ दी जाए ईश्वर कहते कौन है बात चुप रहो तो इनको क्यों नहीं रोकता भगवान ये हमारे काम में बाधा डाल दी तो भाई सरस्वती मानी का वहां से तो बोल देता वहां से बोलती नहीं ईश्वर को न समझने से ऐसा होता है ईश्वर रक्षा करता है वो लंबी बात है पर याद रखना ये सृष्टि ऐसी बनाई है हम जी रहे हैं ये सारी रक्षा का ही रूप है सृष्टि के माध्यम से हम जीते हैं चलते हैं खाते हैं पीते हैं पढ़ते हैं सारी कार्यकलाप ईश्वर के रक्षा के नियमों के आधार पर हो रहे हैं हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में सात धातु बनते हैं मन अलग हो जाता है ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है मेरी और आपकी व्यवस्था ये नहीं क्या समझ मारा ये हमारी रक्षा हो रही है खाया आपने अंगूर डाल दिए कल वो खा गए रात्रि को सो गए क्या बनाया उनका फिर तो मुझे पता नहीं वो सोच करके आ गया तो अरे क्या बना हमको कोई पता नहीं आपको पता हो बताओ मुझे तो पता नहीं अंगूर मैंने भी खाए थे आपने खाए थे कुछ भी अता पता नहीं है ये ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है नहीं तो मर जाते ना रस बनता ना रक्त बनता कुछ भी नहीं बनता वो राम नाम सत है वो हो जाता है तो ये व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है सारी सूर्य कितनी दूर है एक वैज्ञानिक ने एक बात उठाई कि ईश्वर है क्यों ये सूर्य इतनी दूरी पर है ना तो इस भूमि जब के रात होती और ना जल के बर्फ होती इतनी दूर पर खड़ी है आई बात समझ क्या सुनाता हूं यदि ये भूमि सूर्य के और निकट होती तो जल के रात हो जाती और और दूर होती तो जम के इतनी दूर तक खड़ी की है कि न तो जम के रात होती और न जम के ये रक्षा हो रही है नहीं तो कचुम्बड़ निकल जाए जा रहा इसलिए ये बात है कि रक्षा करने की बात समझ लेनी चाहिए अन्यथा ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ पाएगा ईश्वर हमको ज्ञान देता है ये रक्षा का भाव है अंदर अंदर समाधि लगाते हैं ईश्वर हमको ज्ञान देता है ज्ञान आ गया तो कितनी रक्षा करेगा व्यक्ति अपनी और दूसरों तो? फिर ईश्वर हमको आनंद देता है आनंदित हो जाते हैं तो हमारी मन इंद्रिया हमको नहीं सताते काम करो तो लोग को दबा लेते हैं और आनंद ही आनंद मिलेगा तो क्या विषय भोगों में करना है उसमें दुख दिखाई देता है ईश्वर ने रक्षा कर दी ज्ञान दे के रक्षा की आनंद दे के रक्षा की उत्साह निर्भयता ये आंतरिक जो सीधी रक्षा करता है ये उसका विजय है अब समय समाप्त होता है